यह सुधि कोल किरातन पाए हर से जनु नव निधि घर आए कंदमूल फल भरि भर दो चले रंग जनु लूटन सोना भ्राता हे दौभ्राता पर छहि मगुजाता कहत सुनत रघु निकाय आय सबनि दे खेरघुरा यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियाँ उनके घर ही पर आ गई हों वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए करही जोहार भेंट धरियागे प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े पुलक शरीर नयन जलबारे राम मगन सब सबारे कहि प्रिय बचन सकल सन माणि ही जोहारे बचन बहोरि वचन कर जोरी भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमासुओं के जल की बाढ़ आ रही है श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में भरा जान जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जुहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए भाग हमारे आय गमनु रावुर कौशल हे नाथ प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए हे कौशल राज हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है धन्य भूमि बन पंथ पहारा जह जहनाथ पाव तुम धारा धन्य मिहग धन्य बिहग मृग कारण चारे सफल जन्म भय तुम ही निहारी हम सब धन्य सहित परिवारा दरस भर नयन तुम्हारा के बासु भल ठाऊ बेचारे यहाँ सकल रे तो रहब सुखारी हे नाथ जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा हम सब भारती करब सेवकाई के हरी अहिबा घबराए मन बेहड़ गिरकंदर खोहा सब हमार प प्रभु पग पग जोहा तह तह तुम्हें आहार खिलाऊब तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊब सर निरझर जल ठाव दिखाऊब हम सेवक परिवार समेता नाथन सकुचब आयस देता हम लोग हम सब भी हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे हे प्रभो यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खोह दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा वेद बचन मुनि मन यागम ते प्रभु करुणायन बचन किरातन के सुनत जिम पतु बालक बैन जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है